ओम का तीन बार उच्चारण मेरे साथ साथ और मेरे स्वर में स्वर मिलाते हुए मंद ध्वनि से श्वास भरिए ओ शिविर में पधारे हुए समस्त साधकों एवं साथिकाओं अध्यात्म का मार्ग सरल भी है और कठिन भी है कठिनता इतनी कि यदि ठीक तरह न समझा जाए तो इसमें उलझ के रह जाएगा व्यक्ति सोचा था शांति के लिए साधना करूंगा अध्यात्म में जाऊंगा लेकिन यदि मूलभूत बातें स्पष्ट नहीं हैं तो वो साधना को करते हुए भी व्यक्ति को उलझा देंगे मेहनत करते हुए दिनचर्या में चलते हुए चलते चलते कहीं उलझ के रह जाएगा व्यक्ति इतना उलझेगा कि ये अध्यात्म और साधना भी उसके लिए कष्ट का और अशांति का कारण बन जाएगी और इतने कष्ट और अशांति का कारण बनेगी कि वो इसे छोड़ बैठेगा चल नहीं पाएगा यदि कुछ बातें स्पष्ट हैं समझ ली हैं तो ये रास्ता सरल लगेगा आनंददायक लगेगा ये शांति का देने वाला लगेगा अंतर यात्रा में हम कुछ ऐसे ही छोटे छोटे बिंदुओं को लेंगे जिनमें हमारी स्पष्टता और स्थिरता इस मार्ग के लिए आवश्यक है इस मार्ग को सरल बना देगी इन स्पष्टताओं के न होने पर व्यक्ति ऊपर से साधना में चलता हुआ प्रयत्न करता हुआ दिखते हुए भी अंदर से चूंकि बंधा हुआ और उलझा हुआ है इसलिए गिरेगा पड़ेगा जैसे कि हम अपने को कहीं खिड़की आदि में बांध लें और फिर जोर से भागे या चलें तो क्या होगा थोड़ी देर भागेंगे और फिर एक झटका खा करके वापस आएंगे गिरेंगे चोट लगेगी प्रयत्न करने के कारण से ये नहीं है बंधे हुए होने के कारण से किसी गेंद को पत्थर को बांध के खिड़की पर भी बांध के रस्सी से फिर जोर से फेंके लौट के आ जाएगी थोड़ी देर खुश हो सकते हैं कि भित गई है या दूर जा रही है लेकिन सफलता नहीं मिलेगी बात बहुत छोटी सी है खिड़की से रस्सी को खोलना है इतनी सी तो समझ है और फिर जितना फेंकेंगे तो गेंद पत्थर दूर जाएगा हम में से अधिकांश शांति की प्राप्ति के लिए अध्यात्म में आते हैं क्योंकि संसार में जीवन में रहते हुए ऊंच नीच होती रहती है और हम अशांत भी होते रहते हैं प्रयास भी करते हैं कुछ सफल होते हैं कुछ असफल होते हैं और अनेक बार अपने को असमर्थ भी पाते हैं इससे मैं नहीं निकल सकता तो अध्यात्म और योग धर्म हमें आशा के रूप में दिखता है कि यहां मेरे को इसका समाधान मिलेगा तो शांति की आशा में हम अध्यात्म में आते हैं अधिकांश और दूसरी तरफ हमारा ये भी अनुभव रहता है कि जब हम अशांत होते हैं तो साधना और अध्यात्म में गति नहीं हो पाती है दो बातें फिर दोहरा रहा हूं शांति की आशा में हम अध्यात्म में आते हैं इसका मतलब यह हुआ कि अशांति एक हमारा रोग या समस्या है जिसके समाधान के लिए हम अध्यात्म को अपनाते हैं अध्यात्म अशांति दूर करने का उपाय है शांति लाने का एक उपाय है ये पहली बात है और बात बिल्कुल ठीक है अध्यात्म में आकर के चल करके हम अपनी अशांति को दूर कर लेते हैं आने नहीं देते शीघ्र ही शांत हो जाते हैं या शांत बने रहते हैं लेकिन इसका दूसरा पक्ष दूसरी बात कि जिस समय हम अशांत होते हैं उस समय हम साधना नहीं कर पाते उस समय हम अध्यात्म में अच्छी तरह नहीं चल पाते अब ये दूसरी दृष्टि क्या हो गई कि जो अशांति अध्यात्म के द्वारा दूर होनी थी वो अशांति अध्यात्म के लिए ही बाधक बन गई अध्यात्म तो अशांति दूर करने का उपाय था शांति लाने का उपाय था वो उपाय अशांति से समाप्त कैसे हो गया होना तो ये चाहिए था कि जिस समय अशांति है उस समय जब हम अध्यात्म का साधना का प्रयोग करेंगे तो अशांति समाप्त होनी चाहिए ये दूसरा भी अनुभव है सभी का जो भी साधक है ये अनुभव करते ही होंगे अशांति के कारण हम अध्यात्म में प्रगति नहीं कर पाते बाधित होता है कोई दिन बाधित होता है या कोई समय हमारा साधना का बाधित होता ही है तो अब यहां पर हमें इस बात को समझना है इन दोनों में से कौन सी बात ठीक है दोनों बातें कुछ विपरीत लगती हैं एक है तो दूसरी नहीं होनी चाहिए और दूसरी है तो पहले नहीं होनी चाहिए अथवा ये दोनों ही बातें ठीक है योग साधना को दो भागों में बांटी एक योग साधना अध्यात्म वो है जो हम परमात्मा की उपासना के लिए बैठते हैं ध्यान करने के लिए बैठते हैं एकाग्र होकर के कुछ आत्मा का चिंतन करना चाहते हैं कुछ परमात्मा का चिंतन करना चाहते हैं वो स्थिति निर्णय करना चाहते हैं उस शांति में बैठ करके एकाग्रता में बैठ करके वो हमारी अवश्य बाधित होती है जब हम अशांत हो जाते हैं लेकिन जो पहली बात है कि जब हम अशांत होते हैं और यदि अध्यात्म में आते हैं तो हमारी अशांति को दूर करने का उपाय योग का दूसरा भाग प्रारंभ का भाग भी है जिसमें कि यम नियम आते हैं क्योंकि अशांति का कारण यम नियमों के विपरीत आचरण कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिलता है ये भी संभव है यदि अध्यात्म को ठीक तरह ना समझा हो तो यम नियम का पालन धर्म का न्याय का पालन करते हुए भी हम दुखी और अशांत हो जाते हैं इसको मैं फिर से दोहराता हूं हमारे जीवन में अशांति का कारण हमारे द्वारा किया गया कुछ अधर्म कुछ अन्याय कुछ पक्षपात ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन अथवा यम नियम का पालन न करना होता है अधिकांश में यह होता है लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं है कि जिस समय हम धर्म और न्याय के ऊपर चल रहे हों यम नियम का पालन भी अच्छे स्तर पर कर रहे हों तो हम दुखी और अशांत नहीं होंगे उसमें भी हम दुखी अशांत हो जाते हैं शत प्रतिशत यम नियम का पालन तो बहुत ऊंचे स्तर पर सूक्ष्मता से पालन तो बहुत ऊंचे स्तर पर और योगी लोग कर पाते हैं लेकिन फिर भी एक अच्छे स्तर पर यम नियम का पालन हम लोग भी कर सकते हैं इन सबको करते हुए भी हम दुखी हो जाते हैं अशांत हो जाते हैं इसको और स्थूल उदाहरण में दू मैं कि जो छल कपट करते हैं धोखाधड़ी करते हैं उनके जीवन में तो झंझट रहता ही है वो तो दुखी होते ही है कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी जिनसे धोखाधड़ी करेंगे वो प्रतिक्रिया करेंगे या शासन की तरफ से कुछ होगा कुछ ना कुछ गड़बड़ वहां होगी और परमात्मा की तरफ से आंतरिक अशांति तो होगी लेकिन जो धर्म पर चल रहे हैं न्याय पर चल रहे हैं ईमानदार हैं गलत बात का समर्थन नहीं करते सही बात बोलते हैं ऐसे व्यक्ति वो भी दुखी और अशांत देखे जाते हैं उन्हें ऐसा लगने लगता है आगे चल के और अन्य लोगों को भी प्राय देखते रहते हैं प्रश्न करते हैं कि जो धर्म और न्याय पर चल रहा है वो व्यक्ति अधिक दुखी होता है और जो अन्याय अत्याचार करते हैं वो सुखी देखे जाते हैं प्रसन्न भागने कूदने वाले अच्छे देखे जाते हैं ऐसा क्यों हो जाता है तो इसको मैं वापस पहले वाले बिंदु पे लाता हूं कि यदि कुछ मूलभूत बातें हमने नहीं समझी तो ये अध्यात्म ये धर्म ये ईमानदारी ये न्याय पक्षपात रहित आचरण हमारे दुख और अशांति का कारण बन जाएगा बन जाता है इतनी मेहनत करके भी धर्म पर चलना न्याय पर चलना पक्षपात रहित रहना ईमानदार रहना सामान्य बात नहीं है उसके लिए संकल्प चाहिए संयम चाहिए तपस्या चाहिए दृढ़ता चाहिए वो सब करके व्यक्ति चलता है लेकिन उसके बाद भी अशांत और दुखी क्यों हो जाता है ये एक प्रश्न चिन्ह है इसका कारण वो कुछ बातें हैं मूलभूत बातें हैं जो वो नहीं समझ पाया नहीं समझ पाता है दूसरे शब्दों में कहें शास्त्रीय दृष्टि से दार्शनिक दृष्टि से कि वहां भी कुछ न कुछ अविद्या हमारे अंदर विद्यमान है इतनी विद्या है हमारे में कि हम धर्म न्याय और अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं इतनी तक ठीक है लेकिन उसको कैसे करना और वहां जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान कैसे करना ज्ञान के स्तर पर कुछ न कुछ अविद्या वहां पर विद्यमान है वो इसी तरह से कि हमने पत्थर गेंद भी ले ली रस्सी भी ले ली फेंकना है पुरुषार्थ किया सब कुछ किया लेकिन रस्सी खिड़की पे कहीं बांध रखी है अब वो फेंका नहीं जाएगा अटक जाएगा कल आपके सामने एक बिंदु रखा छोटा सा कि हम जिस समय कोई भी कर्म करते हैं या आध्यात्मिक व्यक्ति की दृष्टि से आवश्यक बात कि जब हम कर्म करते हैं तो मैं का क्या स्वरूप मानते हुए कर्म करते हैं एक बाह्य रूप जैसा हमारा है व्यवहार के लिए जितना आवश्यक है और उसके साथ साथ दूसरा रूप कि मैं एक चेतन आत्मा हूं मैं करता हूं मैं इस शरीर का स्वामी हूं इस शरीर में रहते हुए मेरा जीवन चल रहा है इस शरीर का जीवन नहीं वो कौन बात होगी मेरा जीवन चल रहा है मेरी जीवन यात्रा चल रही है इस बात को यदि हम ध्यान में रखें तो बहुत से समाधान बहुत सी समस्याएं हमारी हल होंगी समाधान होंगे आप लोगों ने कुछ कल अभ्यास किया बैठ के भी और आशा है आप में से कम या अधिक अधिकांश ने दिन के कर्मों को करते हुए भी इस पर ध्यान दिया होगा और ये धीरे धीरे अभ्यास करने पर सरल हो जाता है प्रतीत होगा कि बड़ा कठिन है कैसे बार बार याद रखें उधर ध्यान रखें तो ये काम ठीक तरह से नहीं हो पाता कठिन लगेगा भूल जाते हैं बार बार जोर पड़ता है इसको याद करने में लेकिन ये एकदम सरल और सहज भी हो सकता है हमारे कार्यों में इससे कोई बाधा नहीं आती बल्कि कार्य सरल होता है उलझने कम होती है जैसे कोई व्यापारी धन कमाने के लिए लेन देन करता है नए नए को कोई कहे कि कुछ भी ले दो तो ये ध्यान रखो कि कितना कमा रहे हो घाटा तो नहीं हो रहा है किसी को परेशानी लग सकती है कि बार बार क्या ये देखो कि हानि हो रही है लाभ हो रहा है कितना सोचो बड़ा झंझट है सोचना लेकिन जिसे पैसा चाहिए और अभ्यास होता है वो उसके लिए एकदम सहज है जब भी वो व्यापार करेगा लेन देन करेगा ये बात उसकी जुड़ी ही रहेगी कि इससे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है कितना लाभ हो रहा है कितनी हानि हो रही है उसके लिए कोई अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ता सहज है और वो आवश्यक भी लगता है तो लगेगा ये नहीं किया तो फिर व्यापार कैसे चलेगा व्यापार ठीक नहीं हो पाएगा अगर इस बात को मैं नहीं सोच पाता हूं कि लाभ और हानि कितनी है तो मेरा व्यापार ठीक नहीं चल पाएगा ये उसको निश्चित रहता है और यदि किसी कारण से उस समय नहीं भी होता है तो बाद में सोचता है आखिर हुआ क्या है इस पूरी क्रियाओं का लेन देन ऐसे ही साधक को ये बड़ा सहज लगेगा कि जब भी वो कुछ काम करेगा क्रिया करेगा लेन देन करेगा तो उसको ये मान रहेगा कि मैं चेतन आत्मा इसको कर रहा हूं और जब अपने को चेतन आत्मा मानेगा तो उसका हित और अहित सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होगा जब शरीर को मान करके शरीर को ही मान करके उसको मुख्य मान करके क्रिया करेगा तो उसका हानि लाभ का सोच अलग तरीके का होगा निर्णय अलग होंगे किसे ग्रहण करना और किसे छोड़ना वो अलग तरीके का होगा और जब आत्मा को ध्यान में रख के करेगा तो ये अलग तरीके का होगा एक दूसरा बिंदु आज और विचार के लिए लेते हैं शांति और अशांति का चूंकि हम अशांति दूर करना चाहते हैं इसलिए इसको लेंगे हमें अशांति क्यों होती है बहुत से कारण गिना सकते हैं मोटा मोटा दो वर्गीकरण करें कि यदि हमारे पास साधनों वस्तुओं का अभाव है तो हमें अशांति बेचैनी होती है असुविधा होती है और दूसरा साधनों का अभाव न होते हुए भी हमें अशांति होती है साधनों के अभाव में जो अशांति होती है उसमें साधनों को हमें पूरा करना चाहिए ये लोक व्यवहार की बात होगी उसमें अध्यात्म आगे आएगा कि साधन कम होते हुए भी हम अशांत ना हो वो एक अगली प्रक्रिया है लेकिन अभी मैं इस चर्चा को चिंतन को आज की अंतर यात्रा को केवल इधर मोड़ रहा हूं कि हमारे पास अभाव नहीं है रोटी का कपड़े का मकान का जीवन चलाने के लिए हमारे पास है उसके बाद भी हम अशांत हैं किन घटनाओं से हम अशांत हैं ये सब अपने अपने को देखना है सबके अलग अलग घटनाएं स्थितियां होंगी साधनों के होने पर भी जो अशांति है उसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं एक है अन्यों के द्वारा हमारे ऊपर की गई कुछ ऐसी क्रिया जिससे हम अशांत हो जाते हैं और दूसरा है हमारे द्वारा दूसरों से ऐसा व्यवहार हो जाना जो हमारी अशांति का कारण बन जाता है हमने किया और हम अशांत हुए और दूसरों ने किया उससे भी हम अशांत हो गए आपको अंतर यात्रा में एक तो उन स्थितियों को देखना है अपनी अपनी जो अपने व्यवहार से हम अशांत हो गए और दूसरा अन्यों के जिन व्यवहारों से हम अशांत हुए उन उदाहरणों में दूसरे ने गलती की उसको छोड़ करके मैं क्यों अशांत हो गया उसका विचार करना किन जगहों पर मैं अशांत हुआ इस दूसरे के लिए उदाहरण देता हूं किसी ने हमारा अपमान कर दिया हमें गाली दे दी हम ठीक थे तो भी उसने हमें गलत समझ लिया तो हम कहेंगे इससे मैं अशांत हुआ तो दूसरे ने चूंकि अन्यायपूर्वक मुझे गाली दी अपमान किया इसलिए मैं अशांत हूं एक तो ये सोच हुआ इसको हमें नहीं लेना है अभी उसने किया बस इतना जानकारी ली पर उसने जो गलत किया उसके बाद में उसने जो गाली दी उसके बाद में मैं क्यों अशांत हो गया और ऐसे कौन से स्थल हैं जहां मैं अशांत हो गया तो दो बातों पर हम केंद्रित रखेंगे विषय को कि मैंने ऐसा क्या किया मेरे जीवन में आप अपने निकट के कुछ दिनों कुछ सप्ताहों या महीनों की घटनाओं में से किसी एक दो घटनाओं को ले सकते हैं मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मैं अशांत हो गया वो कौन कौन सी घटनाएं हैं दो तीन चार और दूसरों ने कुछ गलत व्यवहार किया जिससे मैं अशांत हो गया ऐसी घटनाएं दो तीन चार जो आपको सूझे जो आपको स्मरण में आए अभी केवल उनको इंगित करना है कि मैं पिछले सप्ताह पिछले माह या पिछले एक साल में किन किन बातों से परेशान हो गया अशांत हो गया और मैं चाहता हूं कि मेरी अशांति दूर हो गई थोड़ी देर के लिए बैठेंगे सीधे बैठ के नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए धीमा लंबा श्वास लीजिए मन को श्वास पर केंद्रित रखिए अंतर यात्रा अपने मन को समझने की यात्रा एक बार ओम का उच्चारण करेंगे श्वास करिए ओ क्या है मेरे द्वारा की गई कोई क्रिया अथवा दूसरों के द्वारा किया गया मेरे प्रति व्यवहार वर्तमान में शांत रहते हुए अशांतिजनक घटना का स्मरण करना है अशांतिजनक घटना का स्मरण करते हुए अपनी शांति को नहीं हटाना है क्योंकि अभी मैं शांत हूं कोई पाथा नहीं है तटस्थ भाव से अपनी पहले की अशांति को उससे संबंधित घटना को स्मरण में लाना है देखना है निष्ठा से उन घटनाओं को स्मरण करें किस तरह से अशांति प्रारंभ हुई थी और वो कैसे बढ़ती चली गई उस बिंदु को भी पकड़ें जहां से अशांति अशांति की घटनाओं में अपने पक्ष में कारण को ढूंढे अन्य व्यक्ति निमित्त बना ठीक है लेकिन मैं क्यों अशांत हुआ अपने अंदर के कारण को ढूंढने का प्रयास करें छोटी या बड़ी घटना कैसी भी हो शांति के अशांति के कारण को देखते हो ये भी विचारिए क्या मैं इस अशांति से बच सकता था घटना तो हो ही गई उस घटना के होने पर भी क्या मैं अशांति से बच सकता था अशांति से बचने का कोई विचार उपाय ढूंढिए अपने आप समाधान देखिए क्या क्या ये अशांति अनिवार्य थी घटना के होने पर भी अशांति अवश्य होनी थी अथवा मैं इससे बच सकता था अधिक अशांत न होकर के कम अशांत होता अथवा अशांत न होता लोग नेत्र बंद करके अपना कीजिए जो भी साधक नेत्र खोल के बैठे हैं वो बंद करके अंतर यात्रा कीजिए आंख बंद कर लीजिए ये आपसे करवाया जा रहा है ये एक अभ्यास है से इसको संपन्न की तरफ लीजिए नेत्रों को खोल लीजिए हम सबके जीवन में अशांति कम या अधिक आती रहती है और हम अशांति को दूर करना चाहते हैं शांत रहना चाहते हैं जब तक हम उन स्थितियों को एकांत में बैठ करके विचार नहीं करेंगे गंभीरता से तब तक ये दूर नहीं होंगे हम स्थूल रूप से बहुत सी बातों को विचार करते हैं कुछ दूर भी करते हैं लेकिन यदि इसे पूरी तरह समाप्त करना है तो शांत एकांत बैठ करके और सूक्ष्म चिंतन करना आवश्यक है अब आप इस शिविर में शांति के लिए आए हैं यदि ध्यान न दिया जाए तो ये शिविर आपको अशांत करने वाला हो जाएगा यहां भी अशांति के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और आप में से कई हो भी रहे होंगे क्योंकि यहां आप भिन्न परिस्थिति में भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न स्वभाव वाले लोगों के साथ में रह रहे हैं बैठ रहे हैं खा रहे हैं वहां आसपास के किसी भी व्यक्ति की कोई भी क्रिया जो आपको ठीक नहीं लग रही है वो आपको अशांत कर सकती है आप ठीक चल रहे हैं तो भी आप अशांत हो सकते हैं देखो ये योग साधना शिविर में आए हैं और कैसा व्यवहार कर रहे हैं दूसरों का ध्यान नहीं रख रहे हैं इतने से भी अशांत हो सकते हैं चप्पल खोलते हैं कमरे में आते हैं तो मेरे बिस्तर के ऊपर से चले जाते हैं कचरा यहां छोड़ देते हैं पंक्ति में मेरे से आगे आ जाते हैं आके एकदम पास में बैठ जाते हैं कि सट जाते हैं स्पर्श करते हैं भोजन कर रहे हैं तो आवाज हो रही है भोजन बांटने वाला थोड़ा ऊपर से दाल सब्जी डाल देता है छींटे लग जाते हैं आपने कहा कि मेरे को रोटी दे दो उसने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया रोटी नहीं मिली इसने भोजन में झूठा छोड़ दिया मौन का नियम है तो भी ये मौन नहीं कर रहा है ये सब चीजें पचासों चीजें आपको अशांत करने के लिए यहां भी विद्यमान है एक तरफ देखेंगे कि बड़ा शांत वातावरण है अच्छा नियम है अच्छा सुनने को मिल रहा है सात्विक भोजन है परिसर अच्छा है तालाब है बगीचा है वेद के मंत्र बोले जा रहे हैं संस्कृत के श्लोक बोले जा रहे हैं कितने लोग बैठ के साधना कर रहे हैं ये संतोषजनक भी होगा लेकिन इसमें बहुत सारा हमारे असंतोष और अशांति का कारण भी बन सकता है मैं ये सब कह करके जो ठीक व्यवहार नहीं कर रहे उनका समर्थन नहीं कर रहा हूं उन्हें सबको ठीक चलना ही चाहिए लेकिन यदि कोई गलत चल रहा है आपके आसपास वाला और कुछ नहीं तो कुर्सी को ही खड़खड़ करता है देर से आके बैठता है फिर खड़खड़ करता है इधर उधर सरकाता है तो मन में अशांति हो सकती है इन छोटी छोटी बातों पर भी हमें ध्यान देना है कि हम अशांत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं क्या मैं इस अशांति से बच सकता था आज के दिन आप इन चीजों को देखिए कि किस किस बात से मैं अशांत हो रहा हूं इस पर और चर्चा आगे करेंगे इसका क्या समाधान है क्या करना चाहिए आपको भी समाधान सूझेगा और फिर हम उसकी चर्चा भी करेंगे ये भी अशांति का कारण हो सकता है कि यहाँ की माइक व्यवस्था ठीक नहीं है खड़खड़ होती है ओम का उच्चारण करते हैं तो कोई बेसुरा बोल रहा है उसको कह दिया गया कि मिल करके बोलना है तो भी उसको ध्यान नहीं है और ऊंचा बोल रहा है बेसुरा बोल रहा है यही अशांति का कारण हो जाएगा जहां जहां आपको अशांति का कारण लगे देखिए उसको ये साधना का भाग है ये व्यर्थ की बात नहीं है हम कितने प्रभावित होते हैं छोटी छोटी बातों पे उन सब का ध्यान रखना है और मैं कैसे इससे बच सकता हूं ये सब हमारे को ध्यान में रखना है तो आज का विषय इतना ही रखते हैं तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हम इस विषय को समझ करके और साधना में आगे बढ़ सकेंगे श्वास करिए ओ सभी को सादर अभिवादन ओम